करने के लिए द्रोणाचार्य उसके पुत्र अश्वत्थामा ने यह अश्वसवाद ऐसे भगवान ने जो विचार किया और पांच गांव पांडवों की ओर आ रहे थे तो उन्होंने अपने को प्रतिकार करने के लिए अपने धनुष बाणों को उठाया भगवान ने अपने भक्तों के ऊपर संकट देख करके उसी समय सुदर्शन चक्र से ब्रह्मास्त्र को शांत कर दिया बोलिए श्री कृष्ण भगवान और तो कुंती महारानी ने देखा कि अभी यदि मेरे वंश का ही नाश हो रहा था ये श्याम सुंदर ने मेरे पुत्रों की रक्षा की है और मेरे वंश की रक्षा की है तो कुंती महारानी भगवान की स्तुति करने लगे नमस्ते पुरुषम स्वाद्यो ईश्वरम प्रकृति परम अलक्षम सर्वभूतानाम अंतर्वरिवस्थित हे श्याम सुंदर मैं तुमको प्रणाम करती हूँ आप तो जगत के आदि कारण हैं आप ईश्वर हैं प्रकृति से पर हैं और संपूर्ण प्राणियों के बाहर भीतर विराजमान रहते हुए भी हम आपको देख नहीं सकते हैं अलक्षण सर्वभूतानाम अंतर्वय अवस्थितम आप हमारे बाहर भी हैं आप हमारे भीतर भी हैं परंतु हम आपको देख नहीं सकते हैं माया जनता मध्या दक्षिण मध्य अपनी माया रूपी परता में आप ऐसे छिपे हुए हैं न लक्ष्य से न नटो तो नाट्य कर भगवान तथा परमहंसा नाम मुनिनाम नाम भक्त योग विधानार्थम कथम करते निष्क्रिय आपका जो अवतार है भगवान का अवतार जो है वो उनकी महारानी कहती हैं कि तो परमहंसों के हृदय में भी भक्ति प्रकट करने के लिए तथा नाम मुनि नाम अमलात्मनाम परमहंस जो मुनि है उनके हृदय में भक्ति प्रकट करने के कहते हैं एक होते हैं हंस एक होते हैं परमहंस एक होते हैं श्रीहंस हंस तब वो होते हैं जो शांत शास्त्र के अनुसार जो अभ्यास करते हैं रागोपतिर ज्ञानम वेदांतियों के यहां ध्यान क्या है वेदांतियों के यहां ध्यान है ध्यानम निर्विषयम मन बस यही ध्यान है कि तुम शांत होकर के बैठ जाओ संसार की कोई वस्तु मन में आ गए नहीं बस यही ध्यान ध्यानम निर्विषयम मना संसार का कोई विषय कोई पदार्थ मन में न आवे बस ये ध्यान हो गया वेदांतियों का ध्यान ध्यान निर्विषयम मन सांख्य वालों का ध्यान क्या है कि रागो का ध्यानम किसी में राग न होना चाहे बने रहो कोई चीज पर राग न होना बोलो उनका यही रागो से राग का नष्ट हो गया तो मानो जैसे एक महात्मा कहा करते थे कि ये दशा है कि जैसे गौ बधी हुई है और गौ के सामने घास है हरी हरी तो वो घास के लिए लपकती रहेगी जब तक घास उसके सामने चाहे बंधी हुई है पर घास के लिए घास जब से दिख रही है तो उधर उसको चलता रहेगा इसलिए ये सांख्यों का जो बात है जब तक संसार है विषय है तब तक तो चित्त उधर दौड़ेगा ही इसलिए चाहे बांध भी दो गौ को तो अभी घास जब दिख रही है तो उधर लपकेगी वेदांत की और कहना है कि सीधे सीधे घास ही वहां से कौन उठा दे तो उसका लपकना बंद हो जाए तो इसलिए कहते हैं रागो पर ध्यान नहीं है ध्यानम निर्विषयम बना वहां से विषय को हटाए तो तब काम बनेगा अगर ये जगत है संसार है विषय है तो मन दौड़ता रहेगा इसलिए कहते हैं जो एक होते हैं हंस जो नील और क्षीर के समान जड़ और चेतन को पृथक पृथक समझ लेते हैं दृष्टा दृष्ट को अलग अलग करके जिन्होंने समझा वो हंस होते हैं और परमहंस वो होते हैं कि जो दृष्टा में दृष्ट को कल्पित मिथ्या समझ के उसको छोड़ देते हैं वो परमहंस होते हैं वेदांत निष्ठ और श्रीहंस वो होते हैं कि जो भगवान की भक्ति और जिनके हृदय में आ जाए तो कहते हैं कि वो परमहंस जो हैं अब संसार में उनका कहीं राज तो है नहीं संसार को मिथ्या समझे हुए हैं तो मन उनका कहां जाएगा वो क्या करेंगे तो कहते हैं आप अवतार ग्रहण करके उन परमहंसों के चित्त को भी अपनी ओर आकर्षित करने के लिए भक्ति उत्पन्न करने के लिए आप, आपके अवतार होते हैं सुखदेव जैसे परमहंसों के चित्त को भी अपनी ओर आकर्षित कर लिया तो उन परमहंसों के हृदय में भक्ति उत्पन्न करने के लिए आपके अवतार होते हैं ये कुंती महारानी कहती है पंकज नाराय नम पंकज मालिने नम पंकज नेताय नमस्ते पंकजांग्रे इस तरह से स्थिति कर रही महाराज जैसे देवकी का आपने उद्धार किया तैसे हमको भी बड़े बड़े कष्टों से आपने बचाया है और हम तो यही चाहती हैं कि हमारे ऊपर विपत्तियां आती हैं विपदा संत न शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भरतो दर्शन यत यद पुनर्न अपुनर्भव दर्शन आपत्ति में हमें हम आपका स्मरण करते हैं और आपका जब दर्शन है तो ये फिर कैसा है कि फिर इसके संसार के प्राणी को मुक्त करने वाला है ये जगत गुरु अस्माकम शस्त्र विपदा संतु यशस्तासु भगवतो दर्शन से मनुष्य लक्ष्मी आदि को पा करके भ्रमण अभिमानी हो जाता है तो आपका नाम भी नहीं लेता आपका नाम लेने में संकोच करता है नमोकिंचन दिखता है निवृत्त वृत्त है आत्मा राम है शांता है कैवल्य पता ही नमो स्तुति करते करते कुंती महारानी को एक बात याद आ गई एक बार कुंती महारानी चली गई ब्रज में और अकस्मात नंद बाबा के यहां गई और उस दिन क्या हो रहा था कि वो हम्म, मैया यशोदा ने हम्म, श्री कृष्ण को बांध दिया था कल और सांटी लेकर के धमका रही थी तेने अरे हाँ तेने मटकी क्या खोली थी तो आज उस बात का स्मरण करके कि महाराज गोप प्यार दे त्वय कृतागत दाम कावत तुमने अपराध किया था क्या हम्म? तो अपराध क्या किया था कि मटकी फोड़ी थी तो तुमसे मटकी फूट गई थी उस अपराध को लेकर के आपको धमका रही थी यशोदा मैया और आपके आपके आंखों में आंसू भरे हुए थे अश्व कल्याण संभ्रमाक्षम काजल से काले काले आंसू आपके आंखों में भरे हुए थे आप नीचे को मुख किए हुए थे और डरे हुए वक्रम निमीय भय भावनया स्थित यशोदा मैया से डर रहे थे नीचे को मुख किए के हुए थे और कहते मैया अब नहीं ऐसा काम करेंगे और जब मैं देखती हूं अब आपके स्वरूप को मैं मैंने जब समझ लिया तो मैं मोह में पड़ जाती हूं कि जिसके भय से भय भी भयभीत होता है जिसके भय से मृत्यु भी डरती है वो मैया यशोदा से डर रहा था वो आपकी ऐसी लीला सामान विमोह है कि धीरप यद विभेदी अब अंत में स्तुति करते हुए कहती हैं श्याम सुंदर अब ये कृपा करो स्नेह पास निगम छिंदी मेरा स्नेह दूर कर दो पांडवेशु विष्णुषु पांडुषु विष्णुषु स्नेह पास निगम छिंदी दृढ़ पांडुषु विष्णुषु इन इन बालकों में युष्ठिर भीम आदिकों में जो मेरा स्नेह है और विष्णियों में यादवों में जो मेरा स्नेह है इसे कृपा करके दूर कर लो तो क्या होगा फिर इनकी ओर से हमें कोई कष्ट नहीं देती और जब तक स्नेह बना हुआ है तब तक स्नेह पास में उन सिंधी दृढ़ पांडु विष्णुषु भगवान की इस तरह से स्तुति की तो कुंती में स्वीकृत हाँ। भगवान ने उन कुंती महारानी की स्तुति सुनी और रथ से नीचे उतर गए और फिर हस्तनापुर में लौट करके आ जा रहे थे द्वारका को युधिष्ठर तो ने कहा महाराज कुछ दिन और रहिए और अब युधिष्ठिर महाराज को व्यास जी ने बहुत समझाया और लोगों ने भी समझाया पर उनका शोक दूर नहीं होता था दुष्ट का तो वो ये कहते थे अहो में हृदय रूढ़ तदेव तदेव तद अज्ञानम पशेगा देखो मैं कैसा मूर्ख हूं इस शरीर को एक दिन कुत्ते खाएंगे अग्नि में जल जाएगा हम्म, कीड़े पड़ जाएंगे ऐसे शरीर के कारण मैंने अठारह हक्षोणी सेना का विनाश करा जिन जिस युद्ध में बच्चे मारे गए गुरु लोग मारे गए सुहृद मारे गए संबंधी मारे गए हम्म, मे नरकात भवस्त्र मोक्ष नस्या अरे मुझे अनंत काल तक नर्क में रहना पड़ेगा कहते हैं कि जो लोग कहते हैं कि युद्ध में शत्रुओं का के बद में कोई पाप नहीं होता अरे ये बात होगा पर जिन स्त्रियों के पति मारे गए हैं जिनसे उनका द्वेष हुआ है तो उसका नाश कैसे हुआ बड़े दुखी हो रहे महाराजा युधिष्ठिर प्रातःकाल जब उठते चार बजे उठे और अपना उठ करके जो भगवान का ध्यान भजन करने बैठते तो उसी समय सब हस्तनापुर की जो स्त्रियां अपने अपने घर में उठ जाती और सब घर में अपने अपने संबंधियों का स्मरण करके रुदन होता था इधर उधर आस पास चार तरफ क्षत्राणियां जो विधवा हो गई थी कोई अपने बच्चे के लिए रो रही है कोई पति के लिए रो रही है कोई पुत्र के लिए रो रही है कोई पति है कोई पिता के लिए रो रही है तो इसलिए चारों ओर जो क्षत्रियाणियां थी वो विधवा होकर के जब चारों ओर रुदन होता था चीत का सुबह प्रातः का युधिष्ठिर का अपना कोई भजन ध्यान में मन लगता था वो बड़े उनका चित्त व्यापक हो जाता था अरे मैंने इस शरीर के लिए राज्य के लोग के लिए इतना बड़ा भारी मैंने विनाश किया और मेरा कैसे उद्धार होगा बहुत लोग समझाते थे उनको चैन नहीं चैन कैसे मिले जहां प्रातःकालीन रुदन होता है चारा ओर तो उनको कैसे धेरी पड़ती तब इसलिए शांति प्राप्त करने के लिए वो भीष्म पिताजी के पास चले और उन्होंने निश्चय कर लिया कि जहां भीष्म पिता कुरुक्षेत्र में जहां विराजमान है सरसैया पर पड़े हैं वहां के लिए उन्होंने प्रस्थान किया और पीछे पीछे फिर अर्जुन ये भीमसेन अर्जुन ये लोग भी उनके पीछे पीछे चले भगवान श्री कृष्ण भी उनके साथ थे ऋषया प्यासा धन्यादय उत्प्राश है बच्चन उनके पूर्वज लोग भी उनके साथ हो लिए और वहां जाकर के देखा कि वो भीष्म जी सरसैया पर बाणों पर उनका शरीर लटका हुआ है और जब उनका दर्शन किया तो ये मालूम होता था कि मानो कोई विमान से कोई देवता गिर गया है और उनका वो दिव्य चेहरा और शरीर मुक्त चमक था देवमेव साक्षात प्रतम भीष्म दृष्ट भीष्म का सबने दर्शन किया कृष्ण ने सर्वे प्रणाम भगवान श्री कृष्ण ने सब पांडवों को सह जाकर के भीष्म जी को प्रणाम किया उसी समय देवता लोग ऋषि लोग भीष्म जी का दर्शन करने के लिए सब वहां पधारे पर्वत नारद भौम व्यास वृदक्ष भारद्वाज परशुराम वशिष्ठ इंद्र प्रमद सब ऋषि लोग गौतम अत्री कौशिक सुदर्शन और सुखदेव जी कहते हैं हम भी थे सुखा कश्यपो बृहस्पति ये सब शिष्यों के साथ भीष्मी जी को देखने के लिए दर्शन करने के लिए वहां आए आगतांतान प्रति शरकल्पस्थो भीष्मो अब भीष्म जी के पास क्या सामग्री है उनके स्वागत के लिए बस वही सबको नमस्कार करके नमस्कार पूजया सरसैया पर पड़े हुए भीष्म जी ने सबको प्रणाम करते हुए जिसको देखते हैं उसको नमस्कार करते हैं सबका सत्कार किया पास में भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं वाणी से उनका पूजन किया बचसा पूजया पास में बैठे हुए नम्रता से जो पांडव लोग हैं उनको देखा और कहा यूम कष्टे जीवित तुम ना रखा अरे बेटाओ तुमने को तो जीवन में बड़े कष्ट उठाने पड़े तुम इनके योग्य तो नहीं थे सर्वम काल कृतम मन ले ये सब काल की महिमा है तुम तुम जैसे धर्मात्माओं को भी कष्ट सहने पड़े सर्वप्रेम लोका कालाधीन भी को सारा संसार काल के वश में भीष्म जी कहते हैं देखो यत्र धर्म सुतो राजा गदा पाणव रखो दरा कृष्णो स्त्री गांडम गांडवम चापम और तो सुरेश कृष्ण तत्व अरे और की तो क्या बात होगी देखो जहां साक्षात युधिष्ठिर धर्मात्मा हो युधिष्ठिर जैसे तो धर्मात्मा परमात्म क्या अखिलेश होना चाहिए जहां धर्म है साक्षात धर्मराज है और जहां बलवान कितना भीम जैसा बलवान अर्जुन जैसा गांधी धारी भाई जिनका और सुहृत कृष्ण और भगवान श्री कृष्ण जिनके मित्र और तत्व विपत्त और फिर भी हैं सर्वम काल खत्म इसको कौन ये सब प्राणी काल के अधीन फिर भीषण पिताजी कहने लगे पांडवों से देखो जो ये जो श्री कृष्ण है ना ये क्या करना चाहते हैं ये कोई नहीं जान सकता ये श्री कृष्ण माया लोकम मोहन गुप्तो यदुष्कर ये सबको माया से मोहित करते हुए छिपे हुए यदुओं में रह रहे हैं इनके प्रभाव को तो देवता भी नहीं जानते जिनको तुम अपना ममेरा भाई समझते अपना मित्र समझते हो अपना सारथी समझते हो जिनसे तुम अपना रथ कबाते हो प्रधानम सारथी चमन्य से इनके लिए तो कोई ऊंच नीच कर्म है नहीं इनसे तो कुछ करा दो मत वैषम्यम कापी नास्ती तो अभी देखो ये अपने भक्तों पर कैसी कृपा करते हैं अब मैं इस समय अपने प्राणों को छोड़ना चाहता था तो स्वयं दर्शन देने के लिए यहां स्वयं ही पधारे मैं दर्शनम प्राप्त हम्म। स्वयं ही दर्शन देने के लिए यहां आ पहुंचे जिस मरने के समय भक्त्यावेश मनु यस्मिन वाचायन नाम कीर्तयन त्यजन कलेवरम योगी मुच्यते काम कर्म भी मृत्यु के समय प्रेम से भगवान का नाम लेता हुआ और भगवान का ध्यान करता हुआ जो शरीर त्याग करता है वो सब बंधनों से मुक्त हो जाता है इसीलिए तुम आत्मा लोग कहा करते हैं कि मरने से डरो मत मरना सीखो मरने से डरोगे तो मौत कौन छोड़ देगी और कोई कह हमें तो मरने से डर लगता है तो डरते रहो मृत्यु और विवेश किम वाला भीतम मुंचित किम यमा हो बच्चू मरने से क्यों डरते हैं क्या डरने वाले को मौत छोड़ देती है तो इसलिए मरने से डरो मत मरना सीखो कैसे बोलो ऐसे मरो ओम इतकाक्षरम ब्रह्मो व्याकरण नाम स्मरण यह प्रयास हम सयात परमाम गति भगवान का नाम लेकर के शरीर मरोगे शरीर का त्याग करोगे तो अमर हो जाओगे उमरना नहीं है वो अमर होना है मनो मनोयस्मिन वाचायन नाम की जयन तयन कलेवरम योगी मुच्यते काम करें भीषण पिताजी कहते हैं सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता तो देवदेव भगवान श्री कृष्ण अब इस बात की प्रतीक्षा करें कि जब तक मैं शरीर का त्याग न कर दू तब तक, तक ऐसे ही मुस्कुराते हुए मेरे सामने खड़े मानो हाँ कितना अधिकार है भक्त का अधिकार हो जाता है इसी तरह से प्रसन्न लगन प्रसन्न आशा लखन प्रसन्न लगन और मेरे सामने इसी तरह से यद्यपि ध्यान पथस्थ चतुर्भुजा यद्यपि योगियों को ध्यान में ही आपका दर्शन होता है पर मेरे भाग्य हैं तो मुझे आप इस समय मेरा दर्शन आपका हो रहा पर जब तक मैं शरीर का त्याग न कर दूं तब तक इसी तरह महाराज दर्शन आप देते इसके अनंतर महाराजा युधिष्ठिर ने और अनेक उनसे प्रश्न किए भीष्म पिताजी से और भीष्म जी ने फिर अनेक आख्यानों के द्वारा संक्षेप से और विस्तार से उनको उपदेश किया साधारण मनुष्य जाति के धर्मों को बताया वर्ण धर्म आश्रम धर्म राज धर्म दान धर्म मोक्ष धर्म स्त्री धर्म है ये सब का उन्होंने वर्णन किया एवं धर्मम वर्ण का इस प्रकार धर्म का उपदेश करते हुए जब भीष्म जी ने उस समय देखा अवतारण काल तब अपनी वाणी का उपसंहार कर लिया मौन हो गए और भगवान श्री कृष्ण जो सामने खड़े हैं अपना मन उनके स्वरूप में स्थिर कर दिया भगवत दर्शनाथ गत शर पात शर पात व्यथा गत शर पात व्यथा भगवान का दर्शन करने से जो उनके शरीर में चुड़ रहे थे बाण उनसे पीड़ा हो रही थी उनिवृत्त हो गया मुंशन कृष्णन तुष्टावा और भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करना भीष्म श्री भीष्म वाचो एति मधुर्व कल्पिता भगवत सात्वत पुंगवे विभूमि स्वसुख मुखगते क्वचित विहर्तुम प्रकृति मुपेश यद प्रवाह भीष्म जी कहने हैं इति मत कल्पिता लो महाराज मैं अपनी ये बुद्धि आपको अर्पित करता इति मत उपकल्पता लोग कहते हैं कि ये इति शब्द है ना इति शब्द तो अंत में आता है इन्होंने स्तुति के आदमी इति रख दिया इति क्यों रखा विष्णु जी ने आदमी अंत में आता है इति शब्द तो इति श्रीमद भागवत जब अध्याय का अंत होता है ग्रंथ का अंत होता है तब इति आता है तो भीष्म पिताजी कहते हैं कि नहीं ये मेरी ये जीवन की इति हो रही है ना जीवन की तो समाप्ति है तो इसीलिए पहले इति शब्द दे तुम्हारा ये मेरी मैं अपनी बुद्धि को आपके चरणों में अर्पित करता हूं कैसी बुद्धि है ये कब इसमें किसी प्रकार की तृष्णा नहीं रह गई मन में से बुद्धि में से तृष्णा निकालना बड़ा कठिन है कितना ही बुद्धा हो जाए बरकत हो जाए पर क्यों ही कोई तृष्णा उसकी बनी रहती तो भूष्म जी कहते हैं कि वितृष्णा अब उसमें किसी प्रकार की तृष्णा नहीं है एक महात्मा कहा करते ये गंगा यमुना तो वर्षा होने पर बढ़ती हैं और वो कौन सी नदी है जो बिना वर्षा के बढ़ती है वो कहते कृष्णा इसमें वर्षा की जरूरत नहीं है <laughs> ये गंगा यमुना नदी तो वर्षा होने पर बढ़ती है और कृष्णा रूपी नदी बिना वर्षा के ही बढ़ती तो भीषम पिताजी कहते हैं कि वितृष्णा और मेरी बुद्धि में किसी प्रकार की तृष्णा नहीं रह गई है ये आपके चरणों में अर्पण करता हूं भगवत सात्विक पुंगवे तो यदुश्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण के चरणों में बुद्धि को अर्पण कर रहा हूं विभूमि जिससे बड़ा और कोई नहीं है विगत विगता भूमो भूमा इसमार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं स्वसुख मुखवते सदा सच्चिदानंद स्वरूप में आप स्थित रहते हैं पर जब सृष्टि की लीला करनी होती है तो आप प्रकृति को स्वीकार कर लेते वैसे सदा अपने सच्चिदानंद स्वरूप में आप स्थित जब जगत की लीला करनी होती है सृष्टि आदि करनी होती है तो जड़ प्रकृति को स्वीकार कर लेते हैं और फिर सृष्टि परंपरा चलने लग जाती है नव प्रवाह त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवराम तधानी कहते हैं तीनों लोक में सबसे अधिक आप सुंदर है त्रिभुवन कमनम त्रिलोकी में जो सबसे अधिक सुंदर है हाँ, इसका ये अर्थ करते हैं तेरे भगवान जिसके कारण सुंदर मालूम होता है संसार में क्या सौंदर्य है जब तक भगवान की चमक है ये बोलो ये सारा सौंदर्य भगवान के यहां से प्राप्त हुआ है तीनों लोक में जो सौंदर्य है वो आपसे ही प्राप्त हुआ है तो त्रिभुवन जिसके कारण से सुंदर मालूम होता है त्रिभुवन प्रमनम और श्याम कमाल के समान जिसके शरीर का सांवला सांवला वर्ण है सूर्य के रश्मियों के समान जो चमचम चमकता पीतांबर धारण किए हुए और घुंघराली अलकों से जिनका मुख कमल अत्यंत शोभायमान है उन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरी निष्कपट प्रीति हो जाए अर्जुन की सखा भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरी निष्कपट प्रीति हो जाए युदितुरवरजोगी धूम्र विश्व कतलुरित समवार्यनम कृतास्वे मम निशित शरीर विद्यमान त्वच विलसत कवचे सुकृष्ण आत्मा मां युद्ध स्थल तो था ही कुरुक्षेत्र में सरसैया पर तो पड़े ही थे अब युद्ध के समय की बात याद करके भीष्म पिताजी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन के रथ पर बैठ करके रथ हाँकते थे तो उस समय की झांकी को याद करते हैं युद्ध विभूम्र विश्व को घोड़ाओं की टाप से उठी हुई धूल से जिनके घुंघरारे अलग मटमेले हुए थे भगवान श्री कृष्ण रथ पर बैठ करके आ रहे हैं तो चारों ओर सहस्रों रथ थे तो वहां तो धूल उठती है तो घोड़ाओं की टाप से उठी हुई धूल से जिनके घुंघराले सुंदर अलग बाल जिनके मटमैले हो गए और जिनके मुख कमल पर पसीने की छोटी छोटी बूंदें अत्यंत शोभायमान हो रही थी मैं अपने पहने पहने बाणों से मैंने जिनका कवच तोड़ दिया विविध मानक कची मेरे बाण जिनके शरीर में घुस गए थे ऐसे कवच मंडित श्री कृष्ण में मेरा सर्वस्व अर्पण हो गया उस समय की झांकी का याद करके मैंने ऐसे पहने पहने बाण मारे थे कि इनका कवच तोड़ करके मेरे बाण इनके शरीर में घुस गए थे सपद सखी बतो निशम्य मध्य बोला अर्जुन ने आदेश दिया क्या दिया क्या कहा और उभयोर मध्य रखम स्थापय में चुता राम सुंदर दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ जाकर के खड़ा कर दो पहले मैं देख चलू तो हमें मैं किन किन से लड़ना लो उसी समय अर्जुन की आज्ञा का पालन किया बोलो आपने दोनों सेनाओं के बीच में जाकर के रथ खड़ा कर दिया स्थित वत पर सैनिकार रखना हृतवत पास सके रथ नमास भगवान ने बीच में रथ जा करके खड़ा कर दिया और कहा भाई देख लो ले अब तुमको किन किन से लड़ना है देखो अर्जुन से तो ये कह दिया और अपने आप ऐसी दृष्टि डाली पांच कौरवों की सेना में कि अपनी दृष्टि मात्र से सर, सर की आयु का अपहरण कर दिया पर सैनिकाल अक्षणा अपनी दृष्टि से ही सब सैनिकों की आयु को छीन लिया और भगवान ने कह दिया अर्जुन से अरे निमित्त मात्रम भर शब्द सागर मैं ये थे निहता देख ये तब मैंने ही मार दिए अब तू केवल निमित्त मात्र बन जा ये महात्मा लोग कहते हैं कि देखो भगवान मध्यस्थ हैं वैसे मध्य में खड़ी दोनों सेनाओं के बीच में हैं पर मध्यस्थ होकर के भी मध्यस्थ मध्यस्थ बने का काम नहीं किया पक्षपात वहां भी हाँ। अरे जब मध्य में खड़ी है तो मध्यस्थ ही तो रहना चाहिए था तो मध्यस्थ न रह करके कौरवों की सेना के पक्ष के लोगों ने उनकी आयु छीन लिया और कहा अब तुम निमित्त मात्र बन जाओ अर्जुन ने दूर से देखा सेना के अग्रभाग को तो वहां व्यवहित कितना मुखम निरीक्ष दूर से देखा अग्रभाग सेना के अग्रभाग को देखा भीष्म पिता खड़े पहले घंट मार लेकर द्रोणाचार्य खड़े हैं कृपाचारी खड़े हैं तो अर्जुन को कहा करी मैं हमको इनसे युद्ध करना पड़ेगा जा तेरी उसी समय अर्जुन को भाई गया राम राम हमको भीष्म पिता के ऊपर अपने बाबा के ऊपर अपने गुरु जी के ऊपर जिनके ऊपर पुष्पों की वर्षा करनी चाहिए उन पर बाणों की वर्षा मैं कैसे करूंगा या तेरी धनुष बाण करके पीछे बैठते